ओमाप्यायन्तु मङ्गानि प्राणश्चक्षुस्तोत्रमथो वयन्द्रियाणि च सर्वाणि मा परिषद चतुर्थ अध्याय द्वितीय खंड सप्तम मंत्र का कुछ विचार हो गया जिसमें जान श्रुति राजा के और रैको के विषय में पक्षियों के संवाद उसके पश्चात उस संवाद को सुनने के बाद राजा ने अपने सेवकों को कहा उसको ढूंढो जाओ वो गया ढूंढा तो मिला नहीं वापस आया तब तो राजा ने कहा अरे ऐसे गांव में शहर में वो ऐसे लोग नहीं मिलते उनको बता लोग नहीं मिलते हैं कहीं जंगल में पड़े होंगे कहीं जाओ ऐसा कहा तो गए जाकर के उसको मिल जाते हैं बोलते आगे शोधस्ताक्षकटस्य पामानम् पावान कसमान उपवेश त्वम् भगवः स अहम झरा इति प्रतिजज्ञ सहक्षता अविलम्बिति प्रत्ययाय सो अरस्ताक्षकट से संभाव्यवाद भगव सैवारेक्व जना इति प्रतिज्ञे सहक्षत्ता अविदमिति प्रत्यय सह वो जो छत्ता है सारथी है सेवक है राजा का सेवक है वहां जब राजा ने कहा जाओ कहीं निर्जन स्थान में ढूंढो कहा तो गया जाने के बाद अवस्था छकटस्य पामानम पशुमान दृष्टवा उपमेश इत्यादि होगा तो गाड़ी के नीचे अधस्तात अधर शब्द से स्थाति प्रत्यय करके बनाया अधस्तात माने नीचे गाड़ी के नीचे छगदस्य गाड़ी के नीचे पामान का समान खुजली रोग को पामा रोग बोलते पामा खुजली इसको खुजाते हुए बैठे हुए ऋषि को देखा और जाकर के उप उप विवेशक समीप पे जाकर के बैठ गया तो तम्भ अपिवाद वहां बैठने के बाद में उस ऋषि को कहा तम्भ अपिवाद उस आदमी ने कहा तमनु भगव सैगवा रही हे भगवान ये मतुवंत है भगवत शब्द से मतुक लगाते भगवान संबोधन में भगवान रू हुआ है मतुक को तकार को रू हुआ है भगवत शब्द है वो मतुव स्वरूप शब्द से सूत्र है वेद में संबोधन में मधु वसुरु संबुद्धम संतसी वसु के सकार भी रू हो जाता है और मधु के तकार भी रू होता है वेद में होता है हे भगवान नहीं तो हे भगवान हो जाता लोक में तो भगवत शब्द का भगवान बनेगा संबोधन में यहां भगवान बना मधु वसु संतसी ऐसे सूत्र है <clears throat> तो हे भगवान हे भगवान लोक में भगवान बनेगा हे भगवान हे भगवान स्वयंवार तोम नु भगवा स्वयंवार हे भगवान आप ही हो स्वयंवार एक बार इति ऐसा पूछा उस सेवक ने पूछा राजा के सेवक ने तब वो बोलते हैं अहम ही अरे इति अरे आगे इति उसको अय आरस करके अरा बनाया फिर पुलित कर दिया अरा बना अरे हरे अहम ही अरे इति दिया ऐसा प्रत्युत्तर दिया मैं हूं अरे हाँ। अरे और इति लगा दिया उसके बाद फिर फुलित कर दिया उसको अहम भी अरे ऐसा ऐसा मैं हूं ऐसा कहा ऐसा उत्तर दिया सहक्षेता वो जो सारथी सेवक था राजा का अविदम इति प्रत्यय जान गया करके वापस आ गया प्रति ए आया प्रत्यय आया वापस आया ये कहा भाष्य में कहते हैं इत्युक्त राज्ञा इति उक्त राजा ने जब ऐसा कहा अरे निर्जन स्थान में जाओ हाँ, गांव में शहर में ऐसे महात्मा नहीं मिलेंगे जहां ब्रह्मगत्ताओं के अन्वेषण किया जाता हो ऐसे जगह में जाओ तो नदी के किनारे जंगल में जाओ ऐसा कहा था इति उक्त इत्युक्त राज्ञा इति उक्त राजा के द्वारा ऐसा कहा गया सारथी विषय के व्यवहार छत्ता इति उक्ता सारथा राजा के द्वारा राजा ने कहा था पूर्व भाषिक अंति में विच गच्छ तत्र मार्गम गुरु कहा था उसी के आगे इति उत्तर कहा वो राजा के द्वारा कहा गया सारथी अन्विष्य ढूंढ करके जैसा राजा ने कहा वैसे जाके ढूंढा अन्विष्य ढूंढ करके तम बिजने देशे एक बिजन देश जहां कोई जनों का अभाव है कोई जन नहीं एकांत में पड़े थे बिजने देश अदस्ता छतरस्य गाड़ी के नीचे तो गंत्रिया माने सगर माने गंत्रिया गंत्री है वो चलने वाली गंत्रिया पावानम गंद्रिया सकट से मानी गंद्रिया सियाड़ी के नीचे पावानम मानी खर्जू खुजली बोलते हैं हिंदी के खरजू को खुजली हुआ है पावरो खुजली खुजाते हुए कसमानम कंडुय मानव उसको कष्ट देते हुए खुजाते हुए दृष्टवा देख करके अयम नूनम संयुक्त कहती उसने सोचा यही है संयुक्त बारक अयम नूनम संयुक्त कहती ऐसा सोचकर उप माने समीपे उपविवेश माने दो उप है एक उप करते समीपे उप उपविवेश ऐसा पाठ है उप माने समीपे उपविवेश माने विनय उपविष्ट समीप में जा एक का तो समीप और एक है जाकर के बैठ गया विनय पूर्वक बैठ गया ऐसा अर्थ है दो उप है बैठा और तम च रैकुंभ अभिवाद उत्तवान उस रैको को ये कहा भी जाकर के बैठा उसने पूछा भी कहा अभिवाद कहा अभी उक्तवान तोमसी है भगवो भगवान यही है वहां भगवह बना है वेद में और यह लोक में होता भगवान भगवत शब्द है <clears throat> मधुबस्वरूप चंद ऐसा सूत्र है तो हे भगवान माने भगवान सैवा रैव के आप ही हो भगवान बार रैव ऐसा सार्थ ने कहा पूछा एवं पृष्ठो इस प्रकार उस छत्ता के द्वारा पूछा गया रैक अहम अस्मि अरे इति अरा है ना अरे इति ऐसा है वो वहां अय आदेश हो यकार का लोप हो गया लोप होने के बाद में प्लुत हो गया प्लुत है प्रतिसर्वणे सूत्र से प्लुत होता है वाक्य सूत्र प्लुत उदात सूत्र कहते प्रति सर्वणे प्रत्युत्तर देते समय के लिए प्लुत हो जाता है संबोधन प्रत्युत्तर दे रहे हैं मैं हूं ऐसा करके प्रत्युत्तर दे रहे प्रतिश्रवण सूत्र है पाणी सूत्र उसके द्वारा है प्रत्युत्तर देने के समय में प्लुत हो जाता है एक वो वेद में होगा एवं पृष्ठो अहमअस्मी अरे इति अनादर इति माने अनादर एवं प्रतिज्ञा अनादर दिखाया उन्होंने अभी भगवान स्वीकार किया माने अनादर को स्वीकार किया उन्होंने मैं हूं अरे ऐसा कहा सतम विज्ञाय उस यज्ञ को उस आरती में जान कर यही है पहचान कर इदम विज्ञातवान अस्मी ऐसा सोचकर मैं इसको जाना हाँ, विज्ञाय अविदम विज्ञातवान अस्मी जान लिया मैंने अविदम ऐसा इति प्रत्यय आया प्रत्यागत प्रत्यय वापस आ गए वो ये कहा आगे मंत्र आएगा तदूह जान श्रुति पौत्रायण षट्शतानिगवाम निष्कम अश्वतरीयम अश्वतरी रथम तद आदाय प्रतिचक्रमे तम्हाभ्युवाद तदुह जानकृति पौत्रायण षट्शतानि निष्कम अश्वतरी रथम तद आदाय प्रतिचक्रमे तम हाभ्युवाद तत्र उस विषय में जब साथ ने आकर के बता दिया अमुक स्थान में स्थिति में पड़े हैं रही को मुनि बताया तत्पर तत्र उस विषय में वह माने एवं हाँ, तत्र ही तत्र एवं उसी स्थिति में यहाँ वह करता एवं करेंगे अर्थ करेंगे एका प्रश्न में भाष्य अच्छा टीका रहेगा अच्छा अच्छा ऋषि का जो अनादर करने का क्या मतलब है हम हाँ, भी अरे ऐसा जो अनादर दिखाया इसका अर्थ मया ही कार्यस्तम चिकित्सक है ऋषि का कहा था मुझे कार्यस्थ की इच्छा है तो मैं कार्यस्थ चाहता हूं मया कार्यस्तम चिकित्सा है मैं कार्यस्थ चाहता हूं कर्तव्य होगा मया कार्यस्तम चिकित्सा कर्म नहीं प्रयोग किया मेरे द्वारा कार्यस्थिक की इच्छा हो रही है किया जाता है मया ही चिकित्सा दे तदर्थम तो धनम अर्थ दे अगारेस्थ के लिए धन चाहिए मुझे गृहस्थाश्रम में जाने के लिए धन की आवश्यकता है न चाहे तादर्थ है किंचित होकर ये आया हुआ व्यक्ति गृहस्थ के लिए कुछ उपकार करने वाला खाली आया है न चाहम ये जो व्यक्ति आया न चाहम तादर्थ ने किंचित उपकार करूं गारेस्थ के लिए कुछ उपकार करने लायक नहीं है हाँ, ये खाली आया हुआ है इति आशय न अनादर यही अभिप्राय से अनादर किया खाली याद आया था वो कुछ नहीं था यही अनादर करने का आगे विज्ञानवान अश्मी कहा उस सारथी ने सोचा जान लिया मैंने ऐसा सोच के वापस आया तो विज्ञान मनुष्य ने यह उक्त लक्षण रखो जो कहा गया जिसका लक्षण बता दिया था जंगल में अरण्य में जंगल में नदी के किनारे कहीं पड़े होंगे कहा था लक्षण बताया राजा ने बताया था उक्त लक्षण यदुक्त लक्षण नैकम तस्थ गार्यस्थ एक तो पहचान लिया मैंने इसको और दूसरी बात उस ऋषि का गृहस्था के अभिप्राय है गार्यस्थ आश्रम में जाने के अभिप्राय है धनार्थित्व हम तो गार्यस्थ में जाने का धन भी चाहे ये भी मैं समझ गया एक गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते ये भी जान लिया रही को भी पहचान लिया या गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते मैंने ये शब्द से समझ गया अरे करके जो अनादर दिया मैंने तो कुछ लाया नहीं मेरे तो ऐसी इच्छा है ऐसे अभिप्राय से समझाओ ऐसा है ये कहा कर यदुक्तम में पाठ होने थे तदुक्तम कहते हैं भाष्यकार कहते हैं क्यों राजा ने कहा था ना तदुक्त यही है लक्षण किसने बताया था उसको राजा ने तेना उगता तदुक्ता ऐसा होना चाहिए पाठ विपरीकार को रहे यदुक्ता के स्थान में तदुक्त पाठ होना चाहिए हम्म। तेना उगता तदुक्त लक्षण उसको राजा ने तो लक्षण बताया था अरे जंगल के जंगल में कहीं नदी किनारे पाए हो वो तो ऐसा तो टीका टिप्पणीकार कहते हैं यदुक्त स्थान में तदुक्त इति उत्तम हाँ, तदुक्त पाठ युक्त होता है यदुक्त स्थान में क्यों तेरह उक्त तदुक्त तेर माने राज्य उस राजा ने जो कहा लक्षण ठीक बात यथोक्त लक्षण यदि यथास्थित अर्थ ऐसा कहा यथोक्त लक्षण जो कहा यथा स्थित अर्थ यही होगा तदुक्त होता तो अच्छा होता यदुक्त व्यथांग तदुक्त पाठ होने से तेरा उक्त तदुक्त वो राजा के द्वारा कहा गया लक्षण वाला यही है पहचान लिया उसने यही सिद्ध होता है ये टिप्पणी कार कह रहे हैं आगे का मंत्र तदूह जान श्रुति तद माने तत्र उस स्थिति में जब उस सेवक ने आकर के बताया तो वह मानी एवं उसी समय में हाँ, ही जान श्रुति पवित्रायण जो जनश्रुति के पुत्र का पौत्र है इसलिए पौत्रायण कहा गया जनश्रुति जनश्रुति है सर्षदान गवा गवाम सर्षदानी गायों के छह सौ का समूह निष्कम और एक हार भी है सोने का हार भी है कंठार और अश्वतरी रथम अश्वतर होते खच्चर उस खच्चर वाले को कहा अश्वतरी जैसे दंड वाले को दंडी बोलते हैं मतुक लगाया जिस रथ में खच्चर जुते हुए हैं ऐसा अश्वतरी रथम अश्वतर वाला जो रथ है माने खच्चर वाला रथ यह अर्थ आएगा अश्वतरी का अर्थ यहाँ माने खच्चर वाला जैसे दंडी होता है दंड वाले को दंडी बोलते हैं खच्चर वाला अश्वतरी रथम अश्वतरी माने खच्चर वाला रथ वो रथ में सामान वाला है तद आ रहा है यह सब लेकर के छह सौ गाय है और कंठहार है और खच्चर से जुता हुआ रथ है खच्चर मजबूत होते हैं ज्यादा घोड़ों से भी इसलिए अच्छा। क्यों आश्रम चाहते हैं तो माने उसकी बातें सुनी उन्होंने सार्थिक बात तो ये सामान चाहिए उनको इसके लिए तद आदाय सब लेकर के प्रति चक्र में चले गए वो चक्र में क्रम पाद विक्षेपे चल दिए राजा उनके पास लिख लगा का प्रयोग है तम हर विवाद वहां जाकर के रैक से ये बात कहा उन्होंने राजा ने कहा राजा क्या बोलेंगे अगले मंत्र में है टीका में तत् माने तत्र तदुह में जो तत्पद करता तत्र है तत्र माने गृह मेरे गृहस्थम प्रति प्रति अभिप्राय बुद्धवा ऋषि के गृहस्थ के प्रति अभिप्राय है इच्छा है इसे जान करके जा जाए तभी तो सामान ले जा रहे हैं वो बुद्धवा धनार्थताम और धन भी चाहते हैं वो ऐसे सोचा ये तो गृहस्थ आश्रम जाने में विवाह करना चाहते हैं और एक है धन भी चाहते हैं वो ये सोच करके धनार्थताम च वह माने बुद्धवा एवं ऐसा होगा बुद्धवा एवं वह का अर्थ एवं करना उसको जानकर ही राजा ने सब सामग्री ले गए वो इसलिए जान श्रुति सर सरसदानी गवाम गायों का जो छह सौ गाय और निष्कम माने कंठहारम कंठ का एक हार है सोने का हार है और अश्वतरी रथम माने अश्वतरी ध्यान उत्तम रथम दो घो खच्चरों से जूता हुआ रथ है तद आराय ये सब सामान लेकर के धनम गृहत्वा उसमें धन है गृहत्वा प्रति चक्र में मानी रैक्वम प्रति गतवान रैक्व की तरफ गए वो राजा तो तम च गत्वा अभिवाद वहां जाकर के रैक्व थे ये कहा उन्होंने हाँ अभिवाद मैंने हाँ, अभ्युक्तवान कहा ये कहना चाहते हैं ठीक है कहते हैं क्षेत्रीय वचने श्रुते सती सप्तम अर्थ इस तत्र का अर्थ क्या है तत्व मैंने तत्र किया उसका अर्थ जब सारथी का वचन सुना उन्होंने रई को ऐसे ऐसे चाहते हैं उस स्थिति में छत्री वचन श्रुते सती उस सारथी के वचन को सुनने पर इन्होंने ये काम किया ये कहते हैं धनार्थिताम तो बुद्धवा इति पूर्वेण संबंध है यहां दो चीज करना है ऋषेर गाढ़ प्रति अभिप्राय बुद्धवा धनार्थिताम च बुद्धवा ये बुद्धवा क्रिया का धनार्थिक कक्षा संबंध करना वह शब्द से पूर्वत अत्रापि एवकारो अर्थ वह शब्द का अर्थ एवकार पहले भी भाष्य में वह एक बार आया था एवकार अर्थ किया था इसी प्रकार यहां भी वह का अर्थ ये करना तो वह पुनरे आए इत्यादि जो आएगा पहले आया था वैसे अर्थ करना बोल दिया आगे मंत्र है मानी सरसता गवाम अयम निष्पो अयम अश्वतरी रथो अनुमेताम भगवो देवताम साधि याम देवताम उपास्ये रैक्वेमानी षडशतानी भवाम जिसको अयम निष्को अयम अश्वतरी रथो अनुमे अनुमा एताम भगवो देवताम साधी याम देवताओं उपाश्रयते रायक्व संबोधन करके क्या हे रायक्व हे राइक्व मुनि इमानी सरस्वतवानी गवाम ये गाय जो छह सौ गायियां हैं सरस्वतान इमानी इससे छह सौ गायियां मेरे पास हैं सब धन है ये धन है इमानी धनानी सर कितने धन है सरस्वतानी गवाम छह सौ तो गाय है अयम जिसको एक निष्कहार भी है कंठहार है अयम अश्वतरी हो दो खच्चरों से जुता हुआ एक रथ भी है अच्छा एताम हम्म। अच्छा अनु में एताम भगवत देवताम साधी कहते हैं हे भगवान ये आप सब लीजिए अर्थ यह आएगा इस देवता को मुझे भी उपदेश कीजिए इस देवता को मुझे अनुसाधी मुझे उपदेश कीजिए याम देवताम तुम उपास्य जिस देवता की आप उपासना करते हैं जिसके बल पर आप इतने आनंद बनने पड़े हैं कुछ नहीं आपके पास जिस देवता के उपासना के बल पर इस स्थिति में आनंद व्यवस्थित में पड़े और हमारे पास इतने पड़े हुए संपत्ति फिर मैं परेशान है जिस देवता की आप उपासना करते हैं हाँ, तो आप हमें उस देवता के बारे में बताएंगे ये धन तो सब लीजिए आप ये बोल हैं क्योंकि न सुखम देवराज से न सुखम चक्रवर्ती न यद सुखम भीतराग से मेरे एकांतवासी न है उनको सुख नहीं है चक्रवर्ती राजा को लोग सुख नहीं मिलना चिंता में पड़ा होगा देवराज इंद्र को भी नहीं होगा जो सुख होगा एकांतवासी यानी बीतराग एकांतवासी खाली एकांतवासी को सुख नहीं मिलता बन एक ही दोषा प्रभवंती राजना जंगल में भी बैठा होगा आसक्ति विशिष्ट हो दुखी रहेगा वो विरक्त होना चाहिए एकांतवास का फल उसको मिलता है निर एकांतवासी एक सुखम बीत राग से जिसका राग समाप्त हो गया आसक्ति समाप्त हो गई वो ऐसे एकांतवास को जो सुख मिलता है यदि आसक्ति से एकांतवास हो तो और दुखदायी होगा यदि विषयाशक्ति है और एकांतवास वो ज्यादा खतरा है बीतराग हो तब एकांतवास सफल होगा ये कारण है यहां भाष्य में कहते हैं हे रैक्व गवाम सरसतानी इमानी छह सौ शतानी करके इमानी बोला हुआ है छह सौ ये गायियां हैं तो डम मया अनितानी आपके लिए मैंने लाया मेरे द्वारा लाए हैं लाए गए गाय आपके लिए हैं अयम निष्पो एक सोने का हार भी है सुवर्ण हार भी है और अश्वतरी रथश्च अयम एक माने खतरों से जुता हुआ गाड़ी भी है जिसमें खतर खींचेंगे इस गाड़ी को ऐसे गाड़ी भी है अयम ये तो धनम आकर्ष ये सारे धन लीजिए आप ये कहा ये तब धनम आदर्श ये धन आप लीजिए सब अच्छा भगवान हे भगवान अनुसाधी चमे मां यहां मे चतुर्थी और षष्ठी में होना चाहिए मे किंतु तो यहां द्वितीय में भी मे करके रखा हुआ है वेद है ते मया का वचन से वहां आना चाहिए तो ष्ठी और चतुर्थी में होना चाहिए किंतु द्वितीय में मे कर दिया आदर्श या माम माम होना मैं कर दिया इसलिए माम करते भाष्यकार उसके काम पर अनुसारी चमे मेरे लिए उपदेश कीजिए आप अनुसारी चमे माम एताम याम च देवताम तुम उपास्य जिस देवता की आप उपासना करते हैं जिसके बल पर आप इतने मस्त पड़े हैं यहाँ उपास्य तद देवता उपदेश है ना माम अनुसारी तो देवता के उपदेश के द्वारा मेरे ऊपर कृपा कीजिए सासु अनुशिष्ट धातु है लोक लगा मध्यम पुरुष प्रति साथी ऐसा है अनुशासन के लिए उपदेश कीजिए मेरे लिए ऐसा कहा तो एक ही साथ भाष्य है शायद दोनों टीका टीका नहीं दो की टीका नहीं है तीसरा मंत्र है <clears throat> तमोह पर प्रत्युवाच अहारे शूद्र तब सह गोभिस्तु तदूह पुनरव जानश्रुति पौत्रायण सहस्रम तदूह पुनरव जानश्रुति पौत्रायण सहस्रम गवाम ज्येष्ठम अश्वतरी रथम द्वितरम तद आदाय प्रतिचक्रमे तमूह पर प्रत्युवाच अहाहारे शूद्र तवैव सह गोविरस्तु इति तदुह पुनरेव जानश्रुति पौत्रायण सहस्रम गवाम ज्येष्ठम अश्वतरी रथम भीतरम तद आदाय प्रतिचक्रमे तम उहा उहा पहले जैसे ये बात में उहा तम मान उस राजा को पर प्रत्युवाच पर जो ऋषि है ऋषि ने उत्तर दिया तम रा, राजानम पर मान ऋषि रैक्वा प्रत्युवाच उत्तर देते हैं तो उन्होंने कहा ये धन दो मेरे को उपदेश दो ये कहा ये कहा था उसके उत्तर देते हैं अह ये अनर्थक है अह यह अनर्थक में प्रयोग अह शब्द हार इतवा हारेण इतवा हार के साथ चलने वाली गाड़ी को इतवा इणगतो धातु क्वनिक प्रत्यय करके इतवा बनाया हुआ चलने वाली को इतवा बोलते हैं ये कनिक प्रत्यांत इण धातु है आड़ के साथ में जो गाड़ी तुम्हारी गाड़ी है ये बोलते हैं इतवा प्रथमा एक वचन है इतम शब्द है क्या ध्यान देना बीजुपे छंदसी सूत्र है उसके बाद आतो मनिन बनी कोनिपश्च ऐसा सूत्र है उसके बाद में अन्य भी दृश्यंत हैं या अंजय से हुआ है धातु से हुआ है या इतवा का अर्थ चलने वाली जो गाड़ी है कोनि प्रत्यांत है हार सोने का हार बोला हुआ है जिसका बोला हुआ है हार के सहित जो गाड़ी है शूद्र तबई वास्तु ये तेरे साथ ही रहेगा मुझे हार भी नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी भी नहीं चाहिए ये बोल रहा है हार और इत्वा या दोष दो शब्द रहेगा हार है दूसरा इत्वा हारे व सह इत्वा त्वा हार और इत्वा मानी गाड़ी चलने वाली ये दोनों शूद्र हे शूद्र तब सह तुम्हारे साथ ही हो ये वो भी वस्तु गाय गाय के साथ ही सब तुम्हारे साथ ही हो जिसका भी तुम्हारे साथ हो चलने वाली गाड़ी भी हो गाय भी तुम्हारे साथ हो ये तो लेके आए हो ना तुम तो। इति ऐसा बोल दिया वह पुनरेव आया एवं फिर वो पुनरेव जान श्रुति पौत्रायण फिर वो जान श्रुति पौत्रायण क्या किया जब ऋषि की बातें सुनी तो धन कम पड़ गया ऋषि को ऐसा लगा उन्होंने गृहस्थ गार से जीवन में जाना चाहते हैं एक तो उनके लिए पत्नी चाहिए वो भी लाया नहीं भाई अपनी कमी देखी उन्होंने तब कहते हैं जान श्रुति फलत्राण फिर क्या करते हैं जब ऋषि ने मना कर दिया पहले वाले को तो कहा सहस्त्रम गवाम चार सौ गाय बढ़ा दिया उन्होंने छह सौ लाए थे पहली बार सहस्त्रम गवाम और विष्कम हार और अश्वतरी रकम उतना ही है दो ही धर्म अपना पुत्री को भी लाए साथ में अब की बार चार सौ गाय ज्यादा है और पुत्री भी ज्यादा है लिया है तद आदय सब धन लेकर के आ, करके कहा प्रतिचक्र लेकर चल दिए उनके पास ऋषि के पास कहा भाष्य में कहते हैं तम एवं उक्तवंतम राजानम प्रतिवाच पर राजा ने जब कहा था आप ये सब धन ले लीजिए और मेरे लिए आप उपदेश कीजिए जिसकी आप उपासना करते हैं उस देवता के बारे में मुझे बताइए ऐसा कहा था तो तम एवं उक्तवंतम राजानम इस प्रकार कहने वाले राजा को प्रतिवाच परो रैको ने उत्तर दिया क्या उत्तर दिया अहति निपातो विनिग्रहार्थी यो अन्यत्र यह तो अनर्थ अह जो निपात है अन्यत्र कहीं आएगा वो अन्य को निग्रह करने वाला अर्थ में होता है किंतु यहां अनर्थक है यहां अन्यत्र प्रयोग में आता है अन्यत्र स्थानों में दूसरे को निग्रह करने के लिए होता है किंतु यहां पर केवल यहां अनर्थक में प्रयोग हुआ है अह शब्द एक कहा अह यदि अयम निपात हो अह शब्द जो निपात है अव्यय है वह तो अन्यत्र तो विनिग्रह के लिए प्रयोग होता है विशेष दूसरे दूसरे को नियंत्रण करना अपने अधीन करना निग्रह करने में होता है किंतु यहां पर यह अनर्थो अनर्थक है यहां तो अनर्थक में प्रयोग है ऐसा कहा यहां अनर्थक में प्रयोग हुआ है अहकार का एव शब्द से पृथक प्रयोग क्यों यहां एव शब्द आगे अलग से प्रयोग है विनिग्रह हाँ, के लिए एव शब्द है तुम्हारे पास ही रह करके मना कर रहे हो एव शब्द का अलग प्रयोग होने के कारण तब वस्तु करके एव शब्द अलग से दिया हुआ है इसलिए अहद अनर्थक है अह का जो अर्थ आना था यह शब्द करेगा आगे अर्थ हो इसलिए कहा हाँ, विनिग्रहार्थ हो एक नंबर टिप्पणी सरा अवधयोती ना निपात है ये फटकार लगाने वाला निपात है फटकार के लिए अह ऐसा भरतना द्योतिना निपात है ना निपात अभ्य इस अभ्य के द्वारा गम्य मानो निषेध हो इसके द्वारा जाना जाता है निषेध डांटता है तो कुछ मना करना चाहता है निषेध कर देता है ये निषेध गम्यमान है विनिग्रह इसके नाम विनिग्रह शब्द का अर्थ है जो फटकार लगाने वाले जो रिपोर्ट होगा उसके द्वारा जो जाना जाता है निषेध जाना जाता है फटकार लगाना तो निषेध है मुझे नहीं चाहिए बोलता है निषेध करता है ये जाना जाता है इसी को कहते हैं विनिग्रह तस्मिन है भगवत विनिग्रहार्थी का उसमें होने वाले को विनिग्रह विनिग्रहार्थी बोला विनिग्रहार्थी यह बोला छ प्रत्यय लगाया विनिग्रह शब्द से छ लगा के गहादिव्य सूत्र से छ लगा के विनिग्रह यह ऐसा बताया एक यहां तो अनर्थक ही बोल दिया क्यों एवं शब्द से पृथक प्रयोगा तवैव वस्तु बोल दिया ना उन्होंने एवकार लगाया आगे मुझे नहीं चाहिए इसके द्वारा जो अर्थ आना था एवकार बता रहा है मना कर रहे हैं हारे त्वा हारेण युक्वा इक्वा हारेत्वा हार के साथ चलने वाली गाड़ी को कहा हारेत्वा ऐसा है हारेड़ा युक्ता गंत्री हार के साथ युक्त जो गंत्री है गाड़ी है युक्ता इत्व गंत्री शेयम हारेत्वा सायम हारेत्वा गाड़ी का विशेषण हारेत्वा है गाड़ी ऐसी है गोभी सह गाय के सहित गाय के सहित गाड़ी तुम्हारी जो हार के सहित गाड़ी और गाय के सहित सबके सब तब ही वास्तु तब ही मैं तुम्हारे पास ही रहे मुझे नहीं चाहिए मना कर दिया क्यों मना किया न मम अपर्याप्त कर्मार्थम अनेन प्रयोजनम इति अभिप्राय ही है शूद्र हे शूद्र करके बोल दिया शूद्र का अर्थ क्या है कहते हैं मम ये अपर्याप्त धन कर्मा के लिए प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा मेरा मैं जितना कर्म चाहता हूं यह पर्याप्त नहीं धन कम लाया तो ये अभिप्राय इसी का ये शूद्र शब्द कहने का मतलब ये कहना चाहते हैं न मम अपर्याप्त न कर्मार्थम अनेन प्रयोजन कर्म के लिए जो अप्र, अपर्याप्त इस धन के द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं मेरा यदि अभिप्राय ऐसा अभिप्राय है इसलिए हे सूत्र शब्द का प्रयोग कर दिया उन्होंने कहा आगे शंका है धनु राजा सो यह तो क्षेत्रीय है सूत्र शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया ऋषि ने यह शंका है ननो राजा असो ये जान श्रुति राजा है क्षेत्रीय है राजा माने क्षेत्रीय है क्षेत्र क्षेत्र संबंध राजा कैसे पता लगा क्षेत्रीय कैसा उसके सेवक है क्षेत्रीय का संबंध उसका छत्तारंगवाच आदि आया हुआ है क्षेत्र संबंध सह छत्तारंगवाच पहले ये वाक्य आया था उस राजा ने अपने सेवक से कहा सारथी से कहा तो ये क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रीय सिद्ध होता है राजा सिद्ध होता है शूद्र नहीं है ये उत्तम पहले ये कहा था साक्षात्कार उस राजा ने अपने सेवक से कहा ऐसा आया भाई और दूसरी बात एक तो ये ग्रहण है मानी इसके संबंध से क्षेत्रा के संबंध से तो क्षेत्रीय सिद्ध होता है सेवक है उसके पास सेवक को कहा करके दूसरी बात विद्या ग्रहण आए थे ब्राह्मण समीप उपगमान और विद्या ग्रहण के लिए ब्राह्मण के पास गया हुआ है इसका मतलब ही वो सूत्र नहीं है दूसरा हेतु दिया गया एक तो छत्ता के संबंध है दूसरी बात विद्या ग्रहण के लिए ब्राह्मण के पास गया हुआ है विद्या ग्रहण आए तो ब्राह्मण समीप होगा विद्या ग्रहण के लिए ब्राह्मण के पास गया हुआ है जाने से शूद्र से जो है मतलब शूद्र के इसमें विद्या में अधिकार नहीं है अनधिकार कथम इदम अनुरूपम रेको ने उचित है ऐसा कैसे सूत्र शब्द का प्रयोग कर दिया रेको ने अनुरूप नहीं अनुकूल नहीं राजा को सूत्र बोल देना दो हेतु दिया शंका में एक तो क्षमता का संबंध है सेवक का संबंध है उसके पास दूसरे बात विद्या के लिए गया हुआ ब्राह्मण के पास गया हुआ विद्या सीखने के लिए ज्ञान के लिए गया हुआ है इसलिए कथम एवं अनुरूपम रैको उच्चते हे शूद्र ऐसा प्रयोग कैसे रैको ने कर दिया हे शूद्र करके कैसे बोल दिया किसान शंका तत्राहु आचार्य इसमें इसके परिहार करते हैं इसके आचार्य लोग कुछ रास्ता निकालते हैं इसका आचार्य भाष्यकार बोलते तथा आहु आचार्य इस विषय में आचार्य लोग विषय विद्वजन कुछ कहते हैं क्या कहते हैं एक कुछ लोग कहते हैं हंस वचन श्रवणात सुख एवं विषय जब हंस ने कह दिया था क्या इस राजा को तू तो रेको के समान मानता है ऐसा कहा था उसके द्वारा इनको शोक प्राप्त हो गया राजा का अनादर हो गया है रेको की प्रशंसा हो गई वहां जो हम आगे चलने वाले हम ने कहा था कि किम एदम रैको अनुवाद था ऐसा बोला था ना क्या इसको तू रैको के समान मानता है ऐसा कहा था हम सब अत्र सर्वात सुख एनम आविवेश हम सब आचार्य लोग इसका उत्तर दे रहे हैं क्यों शूद्र कहा तो कहते हैं हम सब अत्र के सर्वण से एनम राजा राजानम इस राजा को सुख आविवेश माने शोक पैदा हो गया था प्रवेश कर गया था शोक अपना बहुत तुच्छ बना दिया रैको को बहुत बड़ा बना दिया वंशज एक तेरह असौ सुचा द्रवती ऐसा है ये शोक के द्वारा वहां जाता है शोक के कारण से जिसके पास द्रवती क्रिया के साथ अन्य होगा तेरह असौ राजा सुचा द्रवती शोक के द्वारा जाता है शोक लेकर जाता है अथवा श्रुतवा रैको से महिमान अथवा रैको की महिमा को सुन करके जाता है दो में से कोई एक कोट कर जाता है द्रवती यदि ऋषिर आत्मनो परोक्ष गताम दर्शन शुद्र कहते ऋषि जो है अपनी परोक्षता परोक्ष ज्ञान दिखाना चाहते हैं पहले का ज्ञान है उनको क्या हुआ घटना क्या घटी यहां से देख रहे थे परोक्ष गताम परोक्ष ज्ञान अपने पास है क्या क्या करके आया है तू शोक लेकर के आया हम सब वचन सुन के तुझे शोक हुआ था ये जानते थे वो ये ऋषि जो है अपने अपने जो परोक्ष गता है परोक्ष ज्ञान उसको देखाते हुए कहते हैं सूत्र शब्द का तो शोक लेके आया इसलिए सूत्र कहा मैंने तो शोक के साथ आया हुआ है इसलिए सूत्र कहा ये ऋषि कहना चाहते हैं ये कहा एक कुछ लोग ऐसा बोलते हैं अथवा दूसरा लोग कहते हैं सूत्र बदवा अथवा सूत्र के समान आया है क्यों खाली धन लेके आया सूत्र बदवा धने दैव एवं विद्या ग्रहणाय भुजगा न से सेवा के माध्यम से नहीं आया खाली धन लेके आया इस कारण से सूत्र कहने की बात है सूत्र बदवा धने नहीं वही एनम ग्रहण आया उपयोगान सूत्र सूत्र के समान जैसे सूत्र आता है उसी प्रकार धन के द्वारा ही इस ऋषि के पास में विद्या ग्रहण के लिए पहुंचा राजा न सुश्रूषया सेवा के माध्यम से नहीं सुनने की इच्छा भी नहीं मारे सेवा करने की इच्छा भी नहीं न तो जाति आय वह शूद्र जाति से शूद्र तो नहीं है ऐसे आचार्य ने कहा शूद्र के समान आचरण करके आया ऐसे शूद्र के ये दूसरा उत्तर दिया पहला वाला उत्तर तो ये है कि उस शोक उसको हुआ था पहले ऋषि जानते थे इसलिए शूद्र शब्द का प्रयोग कर दिया दूसरों ने कहा नहीं शूद्र जैसा होकर के आया शूद्र जिस तरह से व्यवहार में आता उस प्रकार आया इसलिए शूद्र कहा तीसरे आचार्य लोग कहेंगे अपरे पुनर् आहु अन्य लोग कहते हैं अन्य आचार्य लोग विशेष बोलते हैं तीन वक्त दिया गया तीसरे आचार्य कहते हैं अल्पम धर्म आश्रितम ये रुषा एवं एनम उक्तवान शूद्र इति थोड़ा धन लाए क्या क्रोध के बारे में बोल दिए शूद्र करके रुषा क्रोध अल्पम धर्म आश्रितम थोड़ा धन लेके आया क्यों मैं गृहस्थ चाहता हूँ गारस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ उसलिए पर्याप्त धन चाहिए थोड़े से धन से गारस्थ आश्रम चलने वाला नहीं है ये उनके अभिप्राय है अल्पम धनम आहृतम इधे थोड़ा धन लेके आया ये मान करके रुषा एवं एनम उत्तान क्रोध से बोल दिया इसलिए सूत्र शब्द का प्रयोग कर दिया वास्तव में क्षेत्रीय है सूत्र में रुषा एवं एनम उत्तम सुरान सूत्र कहा लिंगम च ज्ञापक है इसमें जब बहुत धन लेके आते हैं तो उनको उपदेश करते हैं हाँ। ज्ञापक है लिंगम च लिंग ज्ञापक है ज्यादा धन लाने पर दोबारा जाके ज्यादा धन लेके आएंगे तो करेंगे ये कहा लिंगम च बहु आहारणे उपादान धनस्य जब ज्यादा लेके आने पर धन का ग्रहण करते हैं ऋषि बहु आहार ज्यादा लाने पर उपादानम ग्रहणम धनस्य ग्रहण धन का ग्रहण करते हैं ऋषि देखा है पहले वापस कर दिया जब ज्यादा धन लेके आए तो अब ये करते हैं लेते हैं स्वीकार करते हैं देखा है तदुह मतम ज्ञातवा पुनरेव जान श्रुति आयो इस प्रकार के ऋषि के मत को जान करके जब अल्पगन लाया इसलिए सूत्र शब्द का प्रयोग कर दिया ये राजा समझ गया मुझे सूत्र कहा इसलिए कहा मैं तो कम धन लेके आया हूं या शोक लेके आया हूं ये सब जान गए इसलिए तदुह ऊह का अर्थ तो ये तत्र बने तत्व बने तत्र उस स्थिति में ऋषेर मतम ज्ञान हुआ उस ऋषि के विचार को जान करके पुनरेव जान श्रुति पौत्रायण फिर जान श्रुति पौत्रायण जो राजा है वो गवाम सहस्रम अधिकम माने गाय एक एक हजार गाय लाए अधिक गाय लाए पहली बार छह सौ लाए थे वापस कर दिया तो एक हजार अधिकम अधिक गाय हैं जायाम चवर मैंने उनके लिए पत्नी भी लाए ऋषेर जायाम चर ऋषि के लिए पत्नी अपने पुत्री को लाए जायाम से ऋषेर अभिमताम दुहिताराम ऋषि को जो अभिमत था गृहस्थाश्रम में जाने के लिए पहले पत्नी चाहिए फिर पर्याप्त धन चाहिए तभी तो गृहस्थाश्रम चलेगा ऐसा अभिप्राय था उनका तो जायांत ऋषेर अभिमताम दुहितरम अपने ही पुत्री को लाए उनके पत्नी के लिए दुहितरम आत्मन अपने पुत्री है वो आत्मन दुहितरम अपने पुत्री है दूसरे की नहीं तद आदाय प्रति इतना धन लेकर के फिर चल पड़े प्रतिचक्र मैंने क्रांतवान जाए ये कहा टीका से करते हैं तथा संभव है किम यदि किम यदि आशंक्य कहते हैं अह शब्द अनर्थक है करके भाष्यकार ने बोला जो तो अह है अनर्थक है भाष्यकार ऐसा बोले थे कि अह इति अयम निपातो हो अन्यत्र अन्यत्र तो विनिग्रहार्थी है विनिग्रह भी प्रयोग होता है अच्छा यह तो अनर्थक भाष्यकार बोले इसका टिप्पणी का टीकाकार शंका उठाते हैं अत्रापि विनिग्रहार्थत्व संभव है अह शब्द है यहां भी तो वही प्रयोग करो ना विनिग्रह के लिए प्रयोग करो संभव होने पर किमित अनर्थ क्यों फिर अनर्थ क्यों बोला इसको तो कहा तवैव इति एवकार आगे तवैव शब्द है गोवीर अस्तु तवैव तुम्हारे पास ही रहे तो एवकार के द्वारा ही खंडित हो जाता है मना हो जाता है निषेध हो जाता है एवकार के द्वारा निषेध हो रहा वहां इसलिए ये व्यर्थ हो रहा है दो दो निषेध तो ठीक नहीं रहेगा देव वे देवकारादेव तवैव भी अस्तु तवैव ये ऐसा बोला है गाय के साथ सब तुम्हारे साथ ही रहे ऐसा क्रोध में बोलते हैं एवकारादेव विनिग्रहार्थी विनिग्रह सिद्धि क्या विनिग्रह भी प्रयोग है उसी से विनिग्रह सिद्ध है एवकार के द्वारा इसलिए अशब्द का प्रयोजन नहीं रहा इसलिए अनवसर बोल दिया ये शब्द से इत्यादि कहा था गारस्थ्य अर्थिना स्तव कर्मानुष्ठानार्थम इदम धर्म तिष्ठता दीजिए नृत्य राजा ये बोल सकते हैं मैंने जो धन लाया आप गृहस्थ जाते हैं अपने गृहस्थ आश्रम में जाके कर्म करना आपने उसी लिए धन रहने दो हाँ। गारस्थ्य अर्थिना तब ऋषि के लिए रहते हो तुम आप जो गृहस्थ आश्रम चाह रहे हैं आपके लिए कर्मार्थ अनुष्ठान आगे कर्म करना होगा गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद उसके लिए इदम धनम तिष्ठता तिष्ठतु तिष्ठता तातक आदेश कर दिया विकल्प से धन रहे आपके पास यदि चेत न ऐसा राजा बोले तो ऋषि कहते ना हाँ। कहते हैं क्या बोलते हैं न मम अपर्याप्त न कर्मार्थम अनैन प्रयोजन ये जो अनैन न अपर्याप्त न धन इतने कम धन के द्वारा मेरे लिए प्रयोजन कर्म के लिए प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ये ऋषि का अभिप्राय था ये अभिप्राय के कारण से उन्होंने हे शूद्र करके बोल दिया शूद्र ऐसा बोल दिया शूद्र शब्द का प्रयोग कर शूद्र शब्देना जान शूद्र संबोधनम अनुचितम इति चौदह प्रश्न उठता है यहाँ आक्षेप होता है कि सूत्र शब्द के द्वारा राजा को क्षेत्रीय है राजा जान श्रुति राजा को ऐसा संबोधन करना उचित नहीं एक यहाँ शंका उठती है ननु करके शंका उठाई ना तो राजा सो क्षेत्रीय सम्मता क्षेत्रारम उवाच आया हुआ है उस सेवक को कहा कर, तो आया हुआ है तो राजा है ये क्षेत्रीय राजा मैंने क्षेत्रीय है सह क्षेत्रारम उवाच उत्तम ऐसा आया तो तस् अशुद्रत्व हेतु तो दूसरे हेतु भी है राजा शूद्र नहीं है तस्य माने जहां श्रुते अशुद्रत्व हेतु अन्य हेतु भी है विद्या ग्रहणाय च ब्राह्मण समीप उपगमात विद्या ग्रहण के लिए ब्राह्मण के पास में गया हुआ है शूद्र होता ब्राह्मण के पास नहीं जाता ये गए हुए हैं इसके मतलब शूद्र नहीं है वो ये शंका में है अच्छा तस्य श्रुति द्वारा विद्याधिकारो नास्ती तस्य मान सुदृश्य श्रुति के माध्यम से वेद के माध्यम से वेद के पठन पाठन के माध्यम से ज्ञान का अधिकार नहीं है स्मृति आदि के माध्यम से है स्मृति आदि के माध्यम से सभी ज्ञान के अधिकारी है किंतु वेद के माध्यम से नहीं है श्रुति के माध्यम से नहीं तस्य सुदृश्य श्रुति द्वारा श्रुति माने वेदवाक्य पूर्वकम ये टिप्पणी का वेदवाक्य पूर्वक उसको विद्या अधिकारो नास्ते विद्या में अधिकार नहीं है शूद्र को यदि अपशुद्राधिकरण निर्धारित इतिहास है ये ब्रह्मशूद्र में जो अपशुद्राधिकरण है उसमें निर्धारित किया माने शूद्र को वेद पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है हाँ, स्मृति पूर्वक होगा स्मृति पूर्वक होगा स्मृति यहां पढ़े वेद न पढ़े ऐसा आया है अपशूद्राधिकार कहा कहा कि सुगस्य तद अनादर श्रवणात् तद आद्रवणात् सूच्य ऐसा कहा सुख अश्य अश्य राजा इस राजा को सुख शोक पैदा हो गया सुख अश्य तद अनादर जब वो पक्षी ने अनादर शब्द बोल दिया था ना तुम क्या इसको जान ये जान स्मृति को तुम रही को भी समान मानते हो ऐसा तद तस् अनादर श्रवणा उसके अनादर सुनने से तद आदर ऋषि के पास आया है वो इसलिए सूचित सूचित होता है माने शोक हुआ इसलिए शूद्र कहा ऐसे सूचित होता है वास्तव में शूद्र नहीं ऐसा सिद्ध किया हुआ इस राजा के ऐसा ही अधिकरण निर्दिशति निर्देश ही कहता है कहा सूत्र में ये कहा हुआ है <clears throat> अच्छा शूद्र से इत्यादि भाष्य में कहा शूद्र से अनधिकारा वेद पूर्वक ज्ञान प्राप्ति का अधिकार नहीं शूद्र का इसलिए कथम एकदम अनुरूपम रैक्य उच्चते रैक्य के द्वारा ऐसा अनुरूप कैसे बोल दिया सूत्र शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया ये शंका आ गई ठीक उत्तर देंगे आगे ठीक है जान श्रुते सती क्षत्रिय जान श्रुति को क्षेत्रीय होने पर क्षेत्रीय सिद्ध होता है दो हेतु के द्वारा एक तो वो छत्ता को वो छत्ता का संबंध उसके पास है दूसरा विद्या ग्रहण के लिए ब्राह्मण के पास गया हुआ है दो हेतु है तस्य जान श्रुते क्षेत्रीय सती क्षेत्रीय क्षेत्रीय हो जाने पर क्षेत्रीय सिद्ध होने पर शूद्र संबोधन अयोग्यम विदूषण दो हेतु देकर के सिद्ध कर दिया वो क्षेत्रीय है और शूद्र संबोधन करना ठीक नहीं ये उपसंकार होते हैं कथम इत्यादि का कथम इदम अनंत रूपम रही कोण उच्चते हे शूद्र ऐसा शंका में है आगे उत्तर देते हैं न जाति शूद्रो जान सकती जन्म से शूद्र नहीं है जान सकती जाति माने जन्म जनजाति से मन प्रत्यय करेंगे तो जन्म होता है तीन करेंगे तो जाति होता है बात एक ही है जन्म बोलो जाति बोलो एक चीज तो एक उत्तर देते हैं न जाति सूत्र जान श्रुति जन्म से सूत्र नहीं है जान श्रुति उत्तर दे रहे किंतु क्षेत्रीय क्षेत्रीय है जन्म से अश्विन गौण सूत्र शब्द इसमें जो सूत्र शब्द का प्रयोग हुआ है गौण है मुख्य नहीं है किसी निमित्त से लिया जैसे एक बालक को सिंह शब्द का प्रयोग कर देते हैं एक निमित्त विशेष से सिंह बोला जाता है गौण होता है मुख्य सिंह शब्द का प्रयोग जंगल में चलने वाले सिंह के लिए प्रयोग होता है बालक के लिए उसके समान कुछ गुण दिखता है इसलिए इसको सिंह बोल दिया जाता है कोई निमित्त के कारण जो शब्द प्रयोग होता है गौण होता है या निमित्त है शोक के कारण उसको सूत्र बोला ये बोलना चाहेंगे बाकी सूत्र जन्म से सूत्र नहीं ये कह रहे हैं अश्विन सूत्र इस राजा में गौण सूत्र शब्द एक ही मत उपन्यास ने करेगी अनेक मत हैं इसमें आचार्यों का उनमें से एक पक्ष का मत लेकर के उसके परिहार करते हैं सूत्र नहीं है करके सिद्ध करते हैं तत्र कहा इत्यादि तत्र आहुल आचार्य कई मत दिखाएंगे तीन मत दिखाएंगे भाष्यकार आचार्यों का मत ये लोग ऐसा बोलते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं सूत्र का प्रयोग क्यों किया सूत्र शब्द का इसके लिए तत्र आहुर आचार्य तो एक ने कहा एक आचार्य कहा हम सब वचन श्रवणात् हो गए हम आविशेषक मैंने हम सब ये वचन सुन दिया सुन लिया क्या किम एरम एनम रैक्वम रात था ऐसा बोला था हम सुना सुख एरम इस राजा को शोक प्रवेश कर गया इसलिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया क्यों प्रवेश हुआ ऋषि ये जानते हैं कि तुम्हें ऐसी कारण से शोक हुआ था इसलिए मेरे पास आ रही है अपने परोक्षता को जानना बताना चाहते परोक्ष ज्ञान है मुझ में केवल प्रत्यक्ष सामने का वस्तु का ज्ञान नहीं वहां हुई घटना मुझे पता है ऋषि बोलना चाहते हैं ये से मैं कहा था तेरह सौ सुचा ये श्लोक के द्वारा आया है जाता है ऋषि के पास अथवा श्रुत्वा रहिको से महिमा अथवा रहिको की महिमा को सुन करके जाता है इसलिए सूत्र कहा ऋषि आत्मा परोक्ष ज्ञान दर्शन ऋषि जो है अपनी परोक्ष ज्ञता दिखाना परोक्ष ज्ञान मेरे में है तुम किस काम से आयो क्या क्या के किस कारण किस निमित्त लेके आयो मुझे पता है ये बोलना चाहते हैं इसमें शूद्र से प्रयोग करके कुछ लोगों ने कहा ठीक है तेन सुखाविष्ट तेन असौ सुचा इत्यादि में कहा शोक आविष्ट होने से असौ राजा जान असौ जान श्रुति सुचा हेतु ना शोक के कारण निमित्त से रैकम आदि शोक के निमित्त से आता है कौन होगा वो रैक को इतना पड़ा रैक को मेरे से इतना कहा वो रैक को कहा ये करके बोला हुआ हमसा ने कौन होगा रैक को इसलिए रैक को देखने आता है तेरह हेतु ना रैकम आदरती सूत्र इस तरह शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ शोक लेके आया श्रुत्वा तो हंसवाक्यम रहिकुम आग्रते हंसवाक्य को सुन करके श्रुत्वा व हंसवाक्य हंसवाक्य को सुन करके रही पास आता है नैवित्यकम तत्शूद्र पद वित्यर्थ है ये नैमित्तिक है पद गौण है नैमित्तिक जो होता है गौण होता है शूद्र पद शब्द का प्रयोग गौण है यहाँ तथा किमित किमिति शूद्र पदे विशेष फिर भी शूद्र शब्द का प्रयोग इतने बड़े राजा को कैसे कर दिया ऋषि ने ये प्रश्न फिर भी बनता है तथापि गौड़ भी भले मान लो किम इति सूत्र पदे राजा ऋषि संबोधन थे सूत्र पद के द्वारा ऋषि राजा को संबोधन क्यों करता है इस शंकर आएगी तो कहा ऋषि आत्मना परोक्ष गदाम दर्शन तुम्हें क्या क्या हुआ घटना घटी किसे आयो मैं जानता हूं परोक्ष ज्ञता है उन्हें परोक्ष का ज्ञान है उनका दूर का ज्ञान है परोक्ष ज्ञान दूर का ज्ञान पूर्वगत ज्ञान है उनको ये दिखाने के लिए शूद्र शब्द प्रयत्न प्रयोग कर दिया उक्त प्रकार द्वयम <clears throat> द्वय समाप्त इति शब्द इति शब्द दिया आह इति हाँ, दो प्रकार बताया एक तो शोक लेके आया या ऋषि को महिमा को सुन करके आया ये दो प्रकार इसलिए इति शब्द लगा दिया ये कहा उक्त प्रकार द्वय समाप्त हो इति शब्द भाष्य में जो है ना दर्शयन शूद्र ये शूद्र इत्याह इति इति जो शब्द इसके लिए है प्रकारांतरण जान श्रुते शूद्रत्म गौणम व्युत्पादयती अन्य प्रकार से भी जान श्रुति में जो शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है गौण है सिद्ध करते हैं अन्य प्रकार से क्यों दूसरे प्रकार दूसरे आचार्य कहते हैं वो शूद्र के जैसा होके आया खाली धन लेके आया शुश्रूषा नहीं लाया अथवा अथवा शुश्रूषा करने वाली वस्तु नहीं लाया ये भी हो सकता है खाली धन लेके आया हाँ। इसलिए सूत्र है सूत्र शब्द का प्रयोग कर दिया ये भाष्य में कहा था सूत्र बदला धने में एनम विद्या ग्रहण आय उपचार सूत्र के समान आया विद्या ग्रहण के लिए खाली धन लेके आया न तो, तो सुसूर से आया सेवा से सेवा के माध्यम से नहीं आया में ठीक है हम कहते हैं न तो से आया तेरह सूत्र की सुश्रूषा के नहीं आया इसलिए सूत्र शब्द का प्रयोग कर दिया तो गुरु सुश्रूषया विद्या विद्या गुरु की सेवा से होनी है वो तो सेवा के माध्यम से ना कहा दान देना आजकल ये चलता है कुछ दान दे दो हो गया काम उपदेश लो ऐसे ही मुख्यम सूत्रत्व क्षेत्र संबंध ने व्यावर्त मुख्य सूत्र तो होने नहीं सकता क्यों छत्तारम उवाच ये शब्द आया हुआ है क्षेत्रीय हम्म। का संबंध है उसका वो क्षेत्रीय मुख्य सूत्र तो होने नहीं सकता न तो न तो जागत्या है वो सूत्र जाति से सूत्र तो नहीं है सूत्र के जैसा व्यवहार से आया इसलिए सूत्र कहा अन्य आचार्यों के मत था तीसरे आचार्य कहेंगे आगे क्षेत्रीय जान श्रुत जो जान श्रुति क्षेत्रीय है उनमें शूद्र शब्द प्रवृत्ति और निमित्तांतर तीसरे निमित्त बताते हैं कुछ आचार्य को शूद्र शब्द के प्रवृत्ति में क्या है अपरे पुनर् इत्यादि भाषण में अपरे पुनर् आहु अल्पम धर्म आयुतम दो कम धन लेके आया इति रुषा एवं एनम उत्तम शूद्र रोष से ही बोल दिया क्रोध से बोल दिया गृहस्थ आश्रम में जाना है हाँ, ऋषि अब अभी तो जंगल में पड़े हुए हैं अब ये कम धन लेके आया गृहस्थ आश्रम चलने वाला नहीं है इसलिए क्रोध के बारे बोल दिया तेरे पास ही हो सब ये ऐसे बोल दिया ये हो सकता है ठीक है अभी कहते हैं तद ऋषि मतम अधिक धनार्थित्व इतिहावत वो ऋषि का मत क्या है ज्यादा धन चाहते हैं वो सही है लिंगम तो है ना लिंग क्या है वो ऋषि का ज्यादा लिंगम तो बहु उदाहरण है उपादान धन से लिंग है ज्यादा लाने पर धन का ग्रहण किया है ऋषि ने तरु तदु है ऋषि मतम ज्ञापता इत्यादि तद ऋषि मत तो अनेक धन राजा समझ गए ये ज्यादा धन चाहते हैं तद ऋषि मतम अधिक धनार्थम इतिहावत अधिकम सड़ सदैव सकाशा देते ज्यादा लाए क्या लाए गवाम सहस्रम अधिकम एक हजार अधिक है क्या नहीं नहीं छह सौ में सहस्त्र मिला के मान हजार बना के ला गए एक कहते हैं टीकाकार अधिकम सर सदैव सकाशत छह सौ से अधिक एक हजार बना के लाए ये अर्थ है ये हुआ अच्छा आगे मंत्र है विवाद ऋग्वेदम सहस्रम गवाम अयम निष्को अयम अश्वतरी रथ इं जाया अयम ग्रामो यस्े अन्वे मा भगवसाधीति तम्भाद्विवादः दैक्वेदम् सहस्रम् गवाम् अयम् निष्को अयम अश्वतरीरथः इं जाया अयम ग्रामो यस्मिन् आस्ये अन्वेव मा भगवसादीति तम्भ विवादो इतने लेकर के आए अब के बाद एक हजार तो गाय लाए एक हार है और एक खच्चर का जोता हुआ रथ है और एक अपने पुत्री को भी लाए किसी मैंने पत्नी के लिए विवाह के लिए एक तम हर विवाद उस ऋषि को इतना ला करके कहा रैक्व हे रैक्व इदम सहस्त्रम गवाम हाँ, ये ये सहस्त्रम गायों का जो हजार है सहस्त्र है इसको आप में अयम इसका यह हार है सोने का हार है अयम अश्वतनी रथा ये खचोरी में जुता हुआ एक गाड़ी भी है गाड़ी में सामान लदे हुए हैं और यम जाया ये आपकी पत्नी है ये और अयम ग्राम पत्नी भी हो सब कुछ हो रहने का स्थान न हो तो कहते ये गांव भी तो आपके लिए है जहां आप बैठे हो यशमिन आश्चर्य जिसमें आप बैठे हो अभी जहां आप बैठे हो ये गांव भी आपके लिए है क्योंकि राजा के क्षेत्र ही था वो यशमिन आश्चर्य अनु एवं भगवत सारी माम माने माम मुझे अनु पश माने अनुसाधी अनुसाधी एवं ऐसा बोला मुझे उपदेश कीजिए ही आप ऐसा बोला मुझे उपदेश आप कीजिए ही अनुसाधी एवं ऐसा कहा मुझे उपदेश करें ही आप कृपा करें ऐसा कहा हटा जाने को रही को इदम कबाम सहस्त्रम ये तो वैसे ही है ये हजार गाय हैं अयम जिसका ये सोने का हार है अयम अश्वतरी रथा ये एक खतरी का जूता हुआ गाड़ी है यम जाया अर्थम ममदुहिता आपकी पत्नी के लिए मेरी पुत्री है आनिता मैं लाया हूं अयम तो ग्राम हो यशमिन आशे तिष्ठति जिसमें आप रहते हो ये गांव भी आपके लिए है सतत्वत तैरते भया कल्पित ये भी वो गांव भी आपके लिए मैंने कल्पना कर दी थी मैंने संकल्प ले लिया है यह आपके लिए देना मैंने तदे तक सर्वम आदाय ये सब कुछ लेकर के अनुसाधि एवं माम हे भगवान हे भगवान मुझे कृपा कीजिए आप उपदेश कीजिए जिस देवता की आप उपासना कर रहे हो देवता को मुझे बताइए यही उपदेश करना है ऐसा कहा भगवती युक्त ऐसा जो कहा तस्या जायाथम आनिताया राज्य दुहितुर एक मुखम द्वारा विद्याया विद्याया दाने तीर्थम उपद्रहण जानन इत्यर्थ आगे बोलते हैं जब इतना हुआ उपदेश करेंगे आप वहां आगे अगले मंत्र के साथ संबंध है इसका एक ही साथ है आगे मंत्र है तस्या मुखम उपोत्गृहण उवाच आजहार इमा शूद्रा शूद्र अनेन मुखेन आपल आपलपि लपयिष्यथ इति महादृशेषु यत्रास्मा उवाच तस्मै होवाच तस्याः मुखम् उपोद्गृहम् उवाच आजहार इमा शूद्र शूद्र अनेनैव मुखेन आलापयिष्यथा इति ते हैते दैकपर्णानाम महावृषेषु यत्रास्मै होवाच अरे तस्या ऋषि ने क्या सोचा विद्यादान के लिए मुख्य कारण उसकी पुत्री को समझा क्योंकि ये अधिकारी है इसलिए अपने पुत्री को भी समर्पित करने आया है नहीं तो अपनी पुत्री को समर्पित नहीं करता एक विद्यादान के पात्र है समझा ऋषि ने उसको तस्या उस कन्या को ही समझा मुख्य इसको उपदेश करना है करके उपदेश देने के क्योंकि अपनी कन्या ऐसी तैसे नहीं देगा कोई वो बहुत चाहता था इच्छुक था उस विद्या के तभी लाया ये कहते तस्या हाँ प्रसिद्ध है उसी कन्या को मुखम मैंने द्वारम विद्यादान के मुख्य मार्ग वही समझा ऋषि ने ग्रहण ऐसा ग्रहण करते हुए ऋषि कन्या ही मुख्य द्वार समझा उन्होंने क्योंकि अपने पुत्री को राजा एक फक्कर को पुत्री लेके ला रहा है जंगल में खुजरी करके बैठा हुआ ऋषि खुशरी ऋषि जिसके पास और सब कुछ देना गांव भी देना रानी के स्थान देना है सोना चांदी दे रहे हैं गाय मैंने खर्चे सामान दे रहे हैं सब दे रहे हैं एक हजार गाय दे रहे हैं गांव दे रहे हैं हाँ। और अपनी कन्या को दे रहा है ठीक है प्रसिद्ध है उसी कन्या को मुखम उपोदग्रहण मुख्य ये विद्या का नाम है तीर्थ समझ करके उचार ऋषि ने कहा आज हार इमहा लाया इन गायों को लाया इमा कहा आज हार ये गायों को तो लाया लाया लिप लगा रहे आज हार जहारा होता है आंख लगाए आज हारा लाया जहारा वन ले गया आज हारा लाया ये गायों को ले आया तू ऐसा बोला शूद्र फिर वही शूद्र शब्द अभी यहाँ शूद्र वास्तव में ऋष में क्रोध में नहीं है पहले शूद्र बोल रहे थे इसलिए शूद्र का प्रयोग अभी अनुकृति में अनुकरण किया है नकल है अभी अभी वास्तव में वो शूद्र नहीं बोल रहे उनको अनुकरण है पहले शूद्र शब्द का प्रयोग कर दिया है इसलिए अभी शूद्र शब्द का प्रयोग कर दिया सूत्र अनेक मुखे न आलाप था इसी माध्यम से गायों के माध्यम से ये साधन जो लाया इसके माध्यम से हम्म, आला मेरे द्वारा तो बात करवाना चाहता है मुझे कुछ बात करवाएगा बुलवाएगा मुझे लप है बासी स्पष्ट बोल जाए तो धातु है पहले रिच किया उसके बाद में लिट लकार है मध्यम पुरुष एक होता है मेरे द्वारा बुलवाना चाहता है तो मेरे को बुलवाएगा तो ये बोलना चाह रहे इसी के माध्यम से उस देवता के बारे में मुझे बुलवाएगा तो ऐसा बोला तेरा इतने को प्रणाम महापुरुषेशु यत्र अस्मय वाचा तस्मय वाचा अब श्रुति हमारे लिए बोलती है कि वही देश है जो जहां आप बैठे हो मैं आपको दे रहा हूं करके राजा ने बोला था वो देश यही है तेह ते रैको प्रणाम देश वो दे, देश का नाम है रैको प्रणाम का गांव है महावृष नाम के देश में ये पड़ा है ये महावृषेशु वो जो गांव को दिया था वो गांव है रैको पड़ा नाम का और किस देश में पड़ता है महावृष नाम के देश में पड़ता है गांव यत्र अस्मय वास जहां अस्मय उसके लिए यही दिया जहां ये पहले से बैठते थे तस्मय होगा अब इसके लिए आगे उपदेश करना शुरू कर दिया राजा ने ए, राजा को उपदेश करना शुरू कर दिया ये कहते हैं आगे तो भाष्य में कहा रई को इदम गवाम सहस्त्रम अयम इसको अयम अश्वधरी रथा इत्यादि जैसा है ये गाय एक हजार गाय लीजिए ये हार लीजिए एक गाड़ी लीजिए और इम जाया कम महिदूता आपकी पत्नी के लिए गिरफ्तार समझाना चाहिए पत्नी भी चाहिए मैं अपनी कन्या लाया हूं आनिका लाया हूं अयम चक्रावुद ये गांव भी आपके लिए है यशमिन आश्रय तिष्ट जहां आप रहते हो अभी ये कहा सचत पदर्थ है मया कल्पित दे भाई संकल्प कर दे आपके लिए ही है क्योंकि आश्रम के लिए जमीन जायदाद भी चाहिए सब कुछ चाहिए धान तो है ही है पत्नी है जमीन जायदाद है ये सब चाहिए आपको तदे तक सर्वम आदाय सब कुछ लेकर के आप ये धन सारा लीजिए आप और अनुसार ये बबा माम हे भगवत मुझे उपदेश कीजिए जिस देवता की आप उपासना करते हैं आपके पास कुछ नहीं फिर भी इतनी शांत होकर बैठे आप जितने मस्ती में पड़े आप गाड़ी के नीचे पड़े हैं मस्ती में पड़े आप जिसके कारण से और हमारे पास इतने होते हुए हम परेशान हैं राजा के अभिप्राय है मेरे को जरूर उपदेश कीजिए ये सब लीजिए आप ऐसा कहा एवं तस्या जायाथम हम राजो ऋतु राजा का पुत्री है अपनी पत्नी के लिए लाया है वो जाया जाया गया राजा को पूछता हाँ एवं मुखम द्वारम विद्या दान है विद्यादान में मुख्य ये राजा अति इच्छुक है ये समझा विषय क्यों अपनी पुत्री को भी लाया साथ में मैंने विद्या लेने के लिए गुरु की शिक्षा के लिए तो ये ये <clears throat> विद्या या दान है तीर्थम माने पात्र या तीर्थ पात्र वो पात्र समझा हाँ, अगर नहीं तो इतना नहीं करता एक बार लौटा दिया था फिर दोबारा अपने पुत्री सहित लेके आया है तीर्थम उपोदग्रहण जानन इत्यर्थ राजा को समझा कि ये तीर्थ है पात्र है ये विद्या का समझा कहा भी ये कहते हैं ब्रह्मचारी धनादायी वेदादि श्रोत्रिय प्रिय विद्या वा विद्या प्राह तान तीर्थान शर्म ऐसा मेरे तीर्थ छह है कहते कोई ऋषि का शब्द है या अन्य का जो भी है मेरे छह तीर्थ हैं मान छह पात्र हैं विद्यादान में छह पात्र होते हैं ब्रह्मचारी को विद्या देनी चाहिए वास्तव में ब्रह्मचारी हो वेद पढ़ता हो ब्रह्मचारी वेद पढ़ने वाला ब्रह्म माने वेद हम्म। ब्रह्म चरितुम शीलम अश्य जैसे एड़िनी प्रत्यांत होता है ब्रह्मचारी जैसे उसका भोजी है वेद पढ़ना जिसका स्वभाव बना हुआ है उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है एक तो ब्रह्मचारी को विद्या देनी चाहिए दूसरा धनदायी धन देने वाला हो हम्म। उसको भी विद्या देनी चाहिए धनदातुम शीलम अश्य स्वभाव बन गया हो धन देने का मेरी प्रत्यय है मेधा भी बुद्धिमान हो उसको भी विद्या देनी चाहिए तीसरा है और श्रोत्री हो वेद में पारंगत हुआ हो उसको भी विशेष स्थान में कुछ हो तो विद्या देनी चाहिए और प्रिय हो अति प्रिय हो जैसे अपना शिष्य होता है पुत्र होता है प्रिय होता है जैसे उद्दालक ने क्षेत्र को दिया प्रिय अति प्रिय हो उसको विद्या देनी चाहिए अथवा विद्याया व विद्यम अथवा विद्या देकर के विद्या एक दूसरे के आदान प्रदान होता हो एक विषय का क्या था एक है दूसरे विषय का क्या था दूसरा है तो एक दूसरे आदान प्रदान करते हैं उनको विद्या देनी चाहिए इति प्राह ऐसा कहते हैं तान कृतान शर्ममा विद्याम प्राह कहा ये छह तीर्थ मेरे हैं माने छह पात्र हैं विद्या के पात्र छह होते हैं ऐसा कहा ये जो विद्या व विद्यम प्राह में थोड़ा छंदो भंग जैसा हो रहा है ज्यादा अक्षर हो रहा है इसलिए कहते हैं टिप्पणी कार्य कहते हैं विद्यांबा विद्या प्राह ऐसा विद्यांबा विद्या प्राह करने से छंद सही हो जाता है विद्या को विद्याम को पहले विद्या को बाद में रखने से छंद सही हो जाता है ऐसा करना होता है ये कहा बाद की कल्पना ऐसे करनी चाहिए कहा इति विद्या या वचन विज्ञाते ही इस प्रकार से विद्या देने के लिए वचन सुनाई पड़ता है स्मृति में ऐसे सुनाई पड़ता है एवं जानन ऐसा ऋषि जानते हैं उपदग्रहण ऐसा ग्रहण करते हुए जानते हो सब उक्तवान ऋषि ने कहा आग हार लाया आम लगा दिया है जहार लिट लगा आज हार लाया आहृतवान आज आर लाया लाया भगवान यदि मां कहा तुम आप जो है एक गाय को लाए यहां का यच्च यद धनम और धन भी लाया गाय लाया धन लाया अच्छा तब साधु एक अच्छा किया तुमने तो मैं गिरफ्तार में जाना चाहता हूं पहले कम लाया था तुमने अब बार ठीक लाया तब साधु जो लाया ठीक है ऐसा वाक्यशेष लगाना कहा शूद्र इति यहां भी शूद्र शब्द का प्रयोग है शूद्र अनैन मुखे न आलाप था इति ऐसा फिर सूत्र शब्द का प्रयोग आया कहते हैं सूत्र थी पूर्वोक्त अनुकृति मात्र पहले बोल के आए थे जो शब्द वही अभी भी बोल दिया अभी वो वास्तव में उनको कोई क्रोध आदि नहीं है आपकी बात ठीक है अनुकृति मात्र अनुकरण मात्र है पूर्व के नकल है पूर्व में जैसा शब्द बोला था ऐसे शब्द बोल दिए नकल मात्र है न तो कारणांतर अपेक्षा अन्य कारण कम धन लाया ऐसा भी नहीं है हम्म। ऐसा कोई कारण नहीं अन्य कारण के कारण नहीं शोक करके आया ऐसा भी ना अभी कोई अन्य कारण नहीं है न तो अपेक्षा है पूर्व पूर्व में अन्य कारण की अपेक्षा से कहा गया था व्यतिरिक दृष्टांत है पूर्व में अन्य कारण की अपेक्षा से शूद्र शब्द का प्रयोग किया था किंतु यह ऐसा नहीं यह अनुकरण मात्र है नकल मात्र है अनेक मुखे न विद्याग्रहण तीर्थे न इसी माध्यम से विद्याग्रहण के पात्र के माध्यम से पेश तो पात्र बन गया वो विद्याग्रहण के लिए इसलिए माने मेरे द्वारा तू बुलवाएगा ये कहना चाह आलाप ऐश्यथा माने आलाप ऐश्यसी मेरे से बात कराएगा तू ये कहा यदि माम माने यदि माम भाण ऐसी माने मेरे से बुलवाएगा तू अब अब ये लाया तो बोलना ही पड़ेगा देवता को उपदेश करना पड़ेगा मुझे ऐसा तेह एक ग्राम रैक परा नाम ये जो गांव कहा जहां ये बैठे रैक परा नाम है वो गांव का नाम है जहां रैको मुनि बैठे हैं विख्यात विख्यात नाम है वो रेको बड़ा नाम है महावृषेशु देशेशु महावृष नाम के देश में गांव पड़ते हैं महावृष देश बड़ा क्षेत्र है एक क्षेत्र विशेष है तो देशेशु ये त्रयेशु ग्रामेशु भाषा उष्णवान रेको जिन गांव में पहले से बैठा था रेको बैठे थे तान असो ग्रामान अदात वो राजा ने इन गांवों को दे दिया किसका अस्मयी इसी के लिए दिया तान उन गांवों को असौ राजा ब्राह्मण उन गांवों को राजा ने अस्मयी ददौ इस ऋषि के लिए दे दिया आया राजा ददौ होगा तस्मय राज्य धनम दत्तवते दत्तवते हम किलो वाच विद्याम सदै को जब धन दे दिया राजा ने उस राजा धन देने वाले राजा के लिए विद्या उवाच को रैक को विद्या कहना प्रारंभ कर ज्ञान देना शुरू कर दिया ये कहना चाहते हैं संवर्ग विद्या को उपदेश अब होगा टीका फिर करेंगे समय हो गया है ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाश्चक्षुस्रोत्रमसोन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् माम् ब्रह्मनिराकुर्या